एक बनकार नमस्ते दोस्तों आज के इस एक फनकार कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। शरद दत्त जी के रिसर्च के अनुसार के सैगल की बर्थ एनिवर्सरी 4 अप्रैल को पड़ती है तो सैगल साहब की याद में ये कार्यक्रम समर्पित करूंगा और इसमें उनके शुरुआती दौर के कुछ गीत आपको सुनाऊंगा एम वी सुरेंद्र जी की जानकारी के अनुसार सैगल का पहला नॉन रिकॉर्ड एक नॉन फिल्म रिकॉर्ड था उसी में एक होली गीत था जो मैं आपको सुनाऊंगा ये रिकॉर्ड अनुमानन उन्नीस के आसपास निकला था अगला गीत भी 1933 के करीब आया था इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिकॉर्ड पर कोई फिल्म का नाम नहीं दिया गया है और ना ही म्यूजिक कंपोजर बताया गया है के एल सैगल पर कंपेंडियम जब दिल ही टूट गया के अनुसार ये गीत फिल्म पूरन भगत से है जो 1933 में आई थी एक और compilation the legacy of the legend K L Saigal कहती है कि ये गैर फिल्मी गीत हैं जिनकी कॉम्पोजिशन आर सी बोराल की लगती है जो भी हो ये कर्ण प्रिय गीत है इस बारे में कोई दो राय नहीं नहीं है तो आइए प्रिय गीत सुने सैगल साहब की आवाज में काल की है राम हरी मैं काल की है मोक इक प्राणी कलोयाणी कलो मौ सी सौ जय माली रो मौसमी सौ जर तुव कारा बारा कैसा आई सास प्राणी रो किस बन गया के रखूद में यौवन युवती भारत बन गया के कूद में यौवन युवती भयो कछु मन नहीं आवे भयो कछु मन नहीं आवे آ پنهن لو هات پا अगला गीत 1934 की फिल्म चंडीदास के लिए रिकॉर्ड हुआ था इसका रिकॉर्ड वर्षन आज मैं बजाने वाला हूँ रायचंद बुराल जी का संगीत है आगा हश्र कश्मीरी जी ने इसके बोल लिखे the legacy of the legend K L Saigal के अनुसार इस गीत के लिरिक्स अमीर खुसरो की ओरिजिनल कॉम्पोजिशन पर आधारित है आइए सुनते हैं ये गीत साध अगले गीत को शायद वर्जन रिकॉर्ड कहेंगे के एल सैगल साहब का सैगल और वर्जन रिकॉर्ड पूछेंगे आप तो उसके किस्से के बारे में जरूर कहना चाहूंगा 1935 में आई थी फिल्म धूप छाव इसका बंगाली वर्जन भी आया था जिसका नाम था भाग्य चक्र सैगल इस फिल्म में एक्ट करना चाहते थे लेकिन नितिन बोस ने उनको इस फिल्म में नहीं लिया इस फिल्म में तो केसी डे थे और उन्होंने ही फिल्म में इस गीत को गाया था हालांकि इस फिल्म के इस गीत का कोई रिकॉर्ड वर्जन नहीं निकला था केसी डे की आवाज में सैगल साहब की इस नाराजगी को देखते हुए फिल्म धूप छाओ के दो गीतों का एक रिकॉर्ड अलग से निकला था उन्हीं में से ये एक गीत मैं बजाने वाला हूँ क्योंकि इस फिल्म के ओरिजिनली गीत केसी डे ने गाए थे फिल्म में इसलिए इसे मैं वर्जन रिकॉर्ड ही कहूंगा एक और इंटरेस्टिंग बात यह है की इस फिल्म के दो कम्पोजर थे आर बोराल और पंकज मलिक एक साथ गीत के लिरिक्स का क्रेडिट पंडित सुदर्शन को दिया गया है इंटरेस्टिंग बात यह है की जो शुरू का शेर आता है दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से ये एक बच्चे द्वारा जो बहुत जल्दी चल बसा था एक मुशायरे में आतिश लखनवी साहब के सामने अर्ज किया गया था और बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ तो आइए सुनते हैं इस गीत को सैगल साहब की आवाज में सैगल साहब को तो सलाम करेंगे ही साथ ही उस बच्चे मेहताब राय ताबा को भी सलाम करते हैं जिन्होंने ये खूबसूरत शेर लिखा दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से से कहते हैं कि जब मेहताब ने ये शेर शायरे में सौदा साहब के सामने प्रस्तुत किया था तो वो हैरान रह गए थे उसकी शायरी की ब्यूटी पर और तो सुनते सुनते बोले कि ऐसा लगता नहीं कि तुम जवानी देखोगे बहुत ही अजीब बात है कि कुछ ही दिनों में वो बच्चा जल के मर गया था मधुमर किरने का नर है पग पग पर किरने का नर है परमेश्वर अब पतरा तुम्हें परमेश्वर अब पतरा तुम्हें तू ही पतरा कन्हारा अगले गीत से मैं ट्रिब्यूट देना चाहूंगा तिमिर बरन साहब जिनकी डेथ एनिवर्सरी अभी ही 29 मार्च को थी बहुत ही प्यारी कॉम्पोजिशन है ये उनकी फिल्म है 1935 की कारवां ए हयात रिकॉर्ड पर लिरिसिस्ट का नाम नहीं है और लिखा था उस पर फ्रॉम द फिल्म कारवां ए हयात मिस्टर सैगल ना पर दया बन गई राना अगला गीत है 1936 की फिल्म करोड़पति से आरसी बोराल का संगीत है और केदार शर्मा के बोल सैगल साहब के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों को शुभकामनाएं देते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा उनकी आइकॉनिक फिल्म देवदास के गीत से ऑफिशियली तो इस फिल्म के कंपोजर तिमिर बरन थे पर केदार शर्मा जिन्होंने इसका गीत लिखा था उनके अनुसार इसकी धुन वास्तव में के सैगल साहब ने खुद बजाई थी हालांकि रिकॉर्ड कहता है कि इसके कंपोजर तिमिर बरन है the legacy of the legend K L Saigal के अनुसार तिमिर बरन साहब ने खुद इस गीत के लिए सरोद को बजाया था और किदार शर्मा जी के लिरिक्स अमीर खुसरो के लिरिक्स पर आधारित हैं। दो तो बातें तिमिर बरन साहब के बारे में भी कहना चाहूंगा कहा जाता है की लोग उन्हें father of Indian symphony orchestra मानते थे वो खुद एक अकम्पलिश सरोद प्लेयर थे और उन्होंने सरोद राधिका प्रसाद गोस्वामी से सीखा था और बाद में लेजेंडरी उस्ताद अलाउद्दीन खान के वे पहले स्टूडेंट भी थे उनकी सरोद परफॉर्मेंस राग पीलू पर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी तो मुझे दीजिए अब इजाजत और आप ये गीत एंजॉय कीजिए 1935 की फिल्म देवदास से बालम आए बसो मोरे मन में कमरिया बारी मतवारी पतली कमरिया बारी हिकु नया संस्कार ہے है हिकु नया संसार पका है नयूं बारो इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी राय हो कोई फीडबैक हो मुझे Anmol Fankaar at Gmail dot com A N M O L F A N K double A R at Gmail dot com पर जरूर भेजें मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में सी यू